साधन और साध्य साधन यानी साध्य दोनों एक साधन और साध्य जहाँ एक हो जाता है हाँ, साधन हाँ। न तपस्या बस्ती न चारित्र बस्ता कुछ नहीं बसता केवल चैतन अरे वहाँ तक जाने का है तो सबको एक जगह से जाने का है हाँ। जैसे लास्ट स्टेशन इससे आगे कोई स्टेशन नहीं सक्रम सिद्धि वो क्या है आपकी अप- वो सब अभी चौबीस तीर्थंकर नाम मार्ग से मार्ग है हम्म, वही सच्चा मार्ग है भोग का अक्रम तो डाइवर्जन मार्ग है जब ये मार्ग ये मार्ग नुकसानकारक हो जाता है इससे डाइवर्जन मार्ग को चालू होता है सड़क पूरी बनने के बाद डाइवर्सन की जरूरत नहीं है वो डाइवर्जन मार्ग છે ખાલી અક્રમ એટલે ક્રમ નહીં ક્રમિક એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ક્રમિક માર્ગ હા. Step by step step by step step by step આગળ ચલે જાઓ મોક્ષ તરફ અને અક્રમ એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ની લિફ્ટ मार्ग ज्ञानी पुरुष की लिफ्ट में बैठ रहे हो दूसरा कुछ करने का ही नहीं वो अक्रम क्रम बम कुछ नहीं अक्रम दूसरे जाने की लिस्ट में बैठ कर कहीं किसी ने ज्ञान पाया आज तक ठीक है सर कहते हैं कि दूसरे ज्ञानी की लिफ्ट में बैठ के कभी किसी ने ज्ञान पाया है आज तक બીજાની લિસ્ટમાં બેસીને આજ સુધી કોઈને જ્ઞાન થયું છે वो क्यों नहीं होया है वो भरत राजा को हुआ था ना भरत राजा को हुआ था वो अक्रम नहीं था वो क्रम नहीं था हाँ हाँ कारण वो औरतों के साथ और लड़ाई लड़ने के साथ जो हुआ था ये क्रम- अक्रम था नहीं तो क्रम में ऐसा नहीं होता है क्रम में इनका अक्रम ज्ञान ऐसे समझ लो कि असोचा ही सारे अक्रम ज्ञान है और असोचा केवली हाँ साहब ब्रह्मा ऐसा नहीं होता है ब्रह्मा तो ब्रह्म की पूरा होना चाहिए और स्थिति स्त्री से जुदा होना चाहिए स्थिति के अर्थात वो नहीं चलेगा ब्रह्म क्या बोलता है कि नवमा गुण सन आगे नहीं जाता है स्त्री की साथ गुण सन आगे नहीं जाता है पर वो अक्षम है नहीं उसको कोई योग आपका बिल्कुल जुदा ही हो जाता है बिल्कुल जुदा ये प्रकृति से बिल्कुल जुदा दो प्रकार के केवली अहंकार अहंकार जहाँ इधर खराब हो जाता है जिधर कम बंधाता बंद हो जाता है कर्म भी बंधाता है कोई इधर फंसते धंधा करते खाना खाता पीते धर्म कर्म बंधाता नहीं होता एक एक एक अवतार का बंधाता है हमारी आज्ञा पास से पास है पांच आज्ञा दिया है अच्छा। वो निरंतर पास है भविष्य चौबीस कलाक निरुद्ध ऐसा बीस हजार आदमी पास है हाँ, क्या पांच आदमी ट्वेंटी थाउजेंड आदमी निरंतर चौबीस एक हजार पांच आज्ञा हमारी पास है कर्म कर्म की जिम्मेदारी हमारी इनकी नहीं मेरी जिम्मेदारी क्या पांच आज्ञा पांच आज्ञा है पांच आज्ञा क्या है वो ज्ञान ये आपकी हम बताएगा मगर वो आप जरूर आप में हेल्प नहीं करे आज कुछ हम आज्ञा क्या बताता है हम दिव्य चक्षु देता है इसको क्या देता है हम्म। दिव्य चक्षु हम्म, हम्म। तो आपका खुद खुद का आत्मा भी इसको दिखाने में आता है दर्शन में आता है और दूसरा भी आत्मा भी दर्शन में आता है असल में कोई पर चीज आत्मा के साथ गद्दा देख सकते आपके अंदर सब सबके अंदर वो सब देख देख सकता है आपका हाँ। आपको भी देख सकता है आपका आत्मा भी देख सकता है हम्म। तो ये आंख से आपको देखता है हम्म। और ये से आपको तो दो दो हम ये आज्ञा देता है कि तुम्हारी कैसी नहीं देगा आप समझ हाँ। दो आज्ञा बस हाँ, हाँ, ये प्रज्ञा का काम है इंट्यूशन का ये प्रज्ञा का काम है प्रज्ञा प्रज्ञा हो बुद्धि से आगे वो सबको प्रज्ञा हो गई हाँ मतलब जहाँ तक बुद्धि की सीमा में है हाँ, तब तक तो ये आप काम करें और बुद्धि की सीमा से परे प्रज्ञा की सीमा में चला जाता है बीस आदमी को हमने बोला है कि एक चिंता था तो हमारे पास अब चिंता भी नहीं वो तो कहती है समाधि निरंतर समाधि रहना चाहिए हाँ, हाँ, निरंतर समाधि रहना हम्म। और औरत के साथ लड़के के साथ कोई भी कोई भी स्टेट में समाधि रहना चाहिए जब विज्ञान चौबीस तीस का विज्ञान मेरा विज्ञान नहीं है मैं तो उनका निमित्त हूँ हाँ। विज्ञान दे मेरा नहीं चौबीस तो तीर्थन कर भगवान का तो मैं तो उसका निमित्त हूँ खाली समझे वो सब लोग क्या बोलता है ये क्या अपना मार्ग दादा भगवान का ये चले नहीं महावीर भगवान का शासन बचता है क्या बढ़ता है महावीर भगवान का और हम इसका कलश है हाँ, हाँ। सर आपने ये कैसे प्रगटा आपने ये कैसे प्रगटा वो ऐसे प्रकट हुआ हमने कुछ किया नहीं ऐसे प्रकट कैसे बन गया इज बट कैसे बन गया निमित्त कुछ नहीं हुआ एक जगह में बैठे बैठा हाँ। और जवाहियार करके बैठा मैं हाँ। साढ़े पाँच बजे हाँ। तुर्क का स्टेशन पे स्टेशन पे ट्रेन में जवाहियार किया और साढ़े पाँच बजे उतर गया छह बजे तो छह बजे बैठा वो चालू हो गया बाकड़ा में नहीं तो ये जो आपकी भाषा है ये जैसे सारी भाषा बाद में ही हुई या पहले भी आपके ये संस्कार थे आपकी ये जो भाषा हुई ये बाद में हुई कि पहले आपको ये संस्कार थे या આજે ये सारी ભાષા- वीतराग की भाषा है વાણી જે समाज તમારી की નીકળી भाषा जो आप ગુજરાતની ભાષા જે નીકળી એ પહેલા હતા સંસ્કાર કે આ પછી થયા पहला संस्कार था अच्छा पर इगोइजम वाला संस्कार था वाणी ऐसी थी अच्छा तो इगोइजम पॉइजनस हाँ ईगो के साथ था पॉइजनस बिल्कुल क्या करने का उसका फिर टूट जाता है खाना आता तो घर नहीं करता है अभी दिन तो से खड़ा हो गया वो दिन जो दिन ज्ञान हो गया वो दिन इगोइजम से खलास हो गया ममता भी खराब हो गई हम्म। सब दुनिया कैसी चल रही है वो भी देखा भगवान कौन है देखा किसने बनाया कैसे चलता है किस घर से चलता है रॉन्ग वे क्या है राइट वे क्या है सब देखा और सब दुनिया कैसी घुल रही है तो, तो रॉन्ग बिलीफ से घुल रही है सभी रंग मिल गए कोई भी जात मिली है तो ये महावीर की भाषा तब प्रगति है हाँ। ये महावीर की भाषा तब प्रगति महावीर વખતે મહાવીર प्रकट थी बस वही है हम क्या पूछता है देश का क्या नाम जेठा भाई जेठा भाई જેઠાભાઈ ખરેખર जेठा છો छोटा भाई कहते हैं सब लोग લોકોને ઓળખવાનું જે સાધન જે સાધન તે તમે દબાઈ પડે હું જ છું આ ફર્સ્ટ રોંગ બિલીફ તમને રોંગ બિલીફ બેસી તમે જે છો એ જાણતા નથી અને નથી તેનો આરોપ કરું છું that is the first wrong belief અને પછી આ બાયનો ધણી તો બીજી રોંગ બિલીફ હું જૈન છું ત્રીજી રોંગ બિલીફ હું પચાસ વર્ષનો ચોથી રોંગ બિલીફ હું ગોળો છું પાછી રંગ હું મામો છું ગુઓ છું કેટલી રોંગ બિલીફો બેઠી કરમ થી સારી પ્રકૃતિ ही આરોપી ये नामकरण की सारी प्रकृति कर्म नहीं कर्म नहीं कर्म नहीं नाम कर्म नहीं कर्म अरे हाँ। नाम कर्म की सारी प्रकृतियाँ आरोपी थी तो फिर ये वो राम बिलीफ तत्व है वो राम बिलीफ ज्ञानी पुरुष क्या करता है राम बिलीफ को फ्रैक्चर कर देता है और राइट बिलीफ बैठा दे रहा है राइट बिलीफ राइट बिलीफ जिसको समय दर्शन होता है वो बैठा देता है आप ये है ये नहीं है आप ये है ये नहीं है यही तो भेद विज्ञान है कर्म के भीतर अकर्म को देखना यही भेद विज्ञान है कर्म के भीतर अकर्म को देखना अकम्मा जाने ही पास ही अकम्मा जाने ही पास ही अकर्म जानता है देखता है ये दुनिया में कोई आदमी मार खाने को पसंद करे करता है, है? कोई पसंद नहीं करता कोई आदमी नहीं करता नहीं हमारे यहाँ बीस हजार आदमी मार खाने से समाधि होती है ज्यादा समाधि समाधि में रहता है मगर मार खाने से ज्यादा समाधि है कैसे कैसे मार खाते हैं कैसे मार खाते हैं क्या है कई विधि से मार खानी है માણસો માર થઈ ગયા જાય સમાધિ છે મોક્ષ છે આત્મા મોક્ષ લઈને ભરે છે આપડા હા, હા, છે. यह भी प्रयोग है આ ભગવાન ચોવીસ તીર્થકો નો મોક્ષ છે અને મોક્ષ મળ્યા પછી શું દુઃખ થાય છે કોઈ તમે- દુઃખ હોય નહીં तुमको क्या लगा है क्या लगा तुमको वो सब ब्रह्मचारी है लोग सब ब्रह्मचारी है। मन नहीं, से नहीं, काय- क्या लगा એમ तुमको પૂછે છે કે તમને तुमको नहीं नहीं क्या तुमको नहीं उनसे पूछ रहा हाँ એમને પૂછે છે કે तुमको क्या लगा है બોલને, બોલને, જવાબ આપો ને. जब अभी मार खाई क्या लगा तुमको વાતચીત કરે ને સાહેબ જોડે વાતચીત કરે हैं એમાં સૌથી મોટા ને પેલું બોલવું પડે એટલે કાયદો મોટો છે શું તું પાછા એના પર છું કેટલો ઘણો નિરંતર નિરંતર તને ચિંતા ચિંતા કશું જ નહીં અને મારે તો કશું જ નહીં હા સંસારમાં રહું છું નહીં કષ્ટ હોવા નહીં કષ્ટ નહીં નહીં દો બાત છે एक तो कष्ट होता है और हम समभाव से चयन करते एक तो कष्ट होता है तो उसको समभाव से सह लेते हैं और एक कष्ट का संवेदन नहीं होता दोनों में क्या स्थिति बनती है बताओ दो बातें अलग अलग एक तो कष्ट का संवेदन तो होता है पर बिल्कुल समभाव में रह जाते एक कष्ट का संवेदन भी नहीं होता क्या स्थिति बनती बस हमारा संभाव रहता है कुछ नहीं लगता है नहीं ये मेरे को कुछ नहीं लगता कष्ट का तो अनुभव होता है पर संभाव रख लेते हैं एक तो यह स्थिति दूसरी है कि ऐसी स्थिति में आदमी चला जाता है कि जहाँ संवेदन ही समाप्त हो जाता है क्या स्थिति बनती है फीलिंग સંવેદન થાય પણ એમાં પોતે સંભાવ રહે અને બીજું બીજી સ્થિતિ એવી કે જેમાં સંવેદન જ ના થાય તો કે તને શું રહે તો એને પણ મને સંભાવ રહેશે એને એવું કહ્યું કે મને સંભાવ રહેશે એટલે એમને કહ્યું બીજી સ્થિતિ એવી છે કે એમાં કષ્ટ ની સંવેદન જ ના થાય સંભાવ રાખવાની જરૂર ના રહે એવું સંવેદન જ ના થાય સંવેદન જ રહેશે સંભાવ રહેશે રાખવાનું નહીં પડતું સંવેદન જ રહે નિરંતર સ્વસંવેદન સ્વસંવેદન थोड़ा सा हाँ ये समणिया जो हमने बात हुई हाँ हाँ थोड़ा सा उधर हाँ હા. हाँ हाँ भाई थोड़े से पीछे भाई थोड़े भाई इधर हाँ हाँ हाँ आपने क्या कहा मैं सुन नहीं सका हाँ શું કહે છે સાહેબ? नहीं आप આપ શું કેતા આ- આ नहीं कष्ट का संवेदन और इस बारे में आप क्या कह रहे हैं કષ્ટ નું સંવેદન એમ આપ એના વાત- આપ એના વિશે કંઈ કહ્યું ને આપણે એમને સ્વ- સ્વસંવેદન રહે છે કઈ બોલ્યો નહીં हाँ समय को एम कहता है नहीं, आप ही बताइए ये आप स्पष्ट नहीं कर सकते સ્વસંવેદન રે હા. શબ્દો એમને ના આવડે આ લોકો હા, ઠીક હે, કોઈ વાત ના આવડે બિચારા આ તો હજુ હે, ખાતા નથી આવડતું ઠીક કોઈ ખાસ વાત નહીં આપ કહી આ તો જ્ઞાની પુરુષ ના ખોળા બેઠા ભગવાન થઈ જાય ક્યાંથી આવડે પણ પોતે અનુભવ થયો છે સંવેદન નહીં હોતા કષ્ટ સંભાવ રહેતા બે વસ્તુ કહી એમણે એક તો કષ્ટમાં કષ્ટનું સંવેદન થાય કષ્ટનું સંવેદન થાય પણ એમાં સંભાવ રહે એક વાત અને એનાથી આગળની સ્ટેજ કષ્ટનું સંવેદન જ ના હોય કષ્ટનું સંવેદન જ નહીં અમને એક પણ વીસ હજાર માં એક પણ માણસ ને કષ્ટનું સંવેદન જ સંવેદન જ રહે સંવેદન પર સંવેદન નહીં પર સંવેદન તો નહીં પર જૈસે કાંટા ચૂહા अब कांटा टूटता है तो दर्द होता है तो क्या है महाराज साहब दादाजी जो हमको ज्ञान देते हैं ना हाँ। तो आप आपने जो कहा ना कि दोस्त परिस्थिति हाँ। होती है पर तो हाँ। एक परिणाम में हाँ। कष्ट होता है लेकिन उसके प्रति संभाव हाँ। यानी उसके प्रति उसका उसका ये एक हथियार है एक एडजस्टमेंट हाँ, रहा बीच में और दादाजी जो ज्ञान देते हैं ना उसके बाद जो हम हमारी स्थिति रहती है तो उसमें ये सब कोई बीच में का मीडियम ही नहीं है हाँ। डायरेक्ट ये अनुभूति रहती है कि जिसको कष्ट होता है हाँ। वो ये एक स्वरूप दिखाता है हाँ। और खुद ज्ञाता पद में रहता है यानी दोनों के बीच में अहंकार नहीं है अहंकार रहा तो उसको संभाव रखना पड़ता है लेकिन यहाँ तो सीधा उगे है और खुद ज्ञाता है संवेदन नहीं होता अहंकार की बात में बात जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है अब ऑपरेशन करता है तो दर्दी को दर्द तो होता है पीड़ा तो होती है पर कुछ लोग ऐसे हैं कि ध्यान में चले जाते हैं और उसे कम भाव से छीन ली और अनस्थेसिया का प्रयोग कर दिया तो संवेदन भी नहीं दो स्थितियां बनती हमारी चेतना की भी दो बनती तो एक तो वह स्थिति बन जाए कि जिसमें अनस्थेसिया की तरह ऐसी स्थिति के संवेदन शून्यता आ जाए या संवेदन ही नहीं आपका जो कहने का मतलब ये है कि बॉडी हाँ। को भी इफेक्ट न हो हाँ हाँ नहीं वो थीरी वो जो थीरी है बॉडी को इफेक्ट नहीं हाँ शरीर में ये अनुभूति हो कभी कुछ लग रहा कुछ लग रहा है पर उसके हाँ। प्रति ज्ञान नहीं ज्ञान ज्ञान तो पूरा होगा ज्ञान में तो पूरा आएगा हाँ। लेकिन उसकी असर खुद को नहीं होगी जो जिसको होता है वो खुद नहीं है वो स्वरूप मेरा नहीं है हाँ। और जो और खुद का स्वरूप जो है वो दोनों अलग दिमाग के वेद विज्ञान तो ठीक है हाँ। वेद विज्ञान विज्ञान से ही अलग रहता है हाँ, वेद विज्ञान से तो अलग रह सकता है हम्म। पर मैं समझता हूँ इसमें संभाव ही प्रधान होता है संभाव जो आप कहते हैं ना हाँ। उससे भी आगे की स्थिति है नहीं, नहीं नहीं वो तो? ज्ञान देते एक घंटे का प्रयोग है एक घंटे और उसके एक घंटे तक लगातार ऐसे छोड़ देते हैं नहीं नहीं नहीं, वो जो ज्ञान विधि देते हैं ज्ञान हाँ। वेद विज्ञान देते हैं हाँ, हाँ। उस वक्त ये खुद तुम्हारा खुद का स्वरूप क्या है और ये बाकी का जो अनात्म विभाग है उसका हर एक परमाणु परमाणु तो के तरह अच्छा अलग है वो अलग बता देते आप ज्ञान विधि શું છે એ પૂછો. જ્ઞાન વિધિ શું છે પૂછે આ જ્ઞાન વિધિ શું છે એ પૂછે છે કહું છું જ્ઞાન વિશે તો સેપરેશન हाँ हाँ ભૂતગલ અને આત્માનું ચેતન नहीं कैसे देते हैं आप શુદ્ધ ચેતન ये तो सिद्धांत तो અને ठीक है ભૂતગલ બેનું સેપરેશન પણ કેવી રીતે એટલે આપો? આ તો સિદ્ધાંત આ થયો શું છે પણ આ કેવી રીતે આપો છો આપ મેથડ हाँ मैं એના આપવા એની પદ્ધતિ શું મેથડ આપવાની એનું બધું હોતું જ નથી हाँ એમને બેસાડી हाँ અને આ જેમ તેમ બોલવાની જ જરૂર છે आप थोड़ा प्रयोग करके दिखा सकेंगे आप એ થોડા પ્રયોગ કરીને બતાવશો એમ એ તો તમે આપ એ પ્રયોગશાળામાં આવશે ત્યારે પ્રયોગ કરી નાખીશું આપણે नहीं, नहीं कोई आपसे जैसे आपको कराया है वैसे कराया પ્રયોગશાળા નથી થતી. वो लेबोरेटरी में आएंगे तब ये એને प्रयोग પ્રયોગશાળા સિવાય પ્રયોગશાળા નહીં. विदाउट लेबोरेटरी नहीं होगा એનું ટાઈમ હોય છે ટાઈમ ટાઈમ लगती है ना नहीं, अभी अभी नहीं, अभी प्रयोग नहीं possible। नहीं नहीं अभी प्रयोग चलो, की नहीं टाइम है। प्रयोग कैसे कराते हैं આપના બધા શિષ્યો છે એમાંથી બે જણ મારી પાસે મોકલો કે તમે આ પ્રયોગ કરીને પાછા આવજો તો પ્રયોગ કરી આપો પછી અમે તમને અહીંયા આગળ સ્વસંવેદન જ્ઞાન વધશે તમને પોતે કહે છે કે આ પ્રમાણે થયું એક્સપિરિયન્સ પોતાનો લાઈટ લાઈટ માંથી લાઈટ થાય બાકી લાઈટ વગર લાઈટ ન થાય એક લાઈટ માંથી બીજી લાઈટ હળગ એની મેળે લાઈટ નહીં થાય નિમિત્ત જોશે નિમિત્ત नहीं हो सकता हूँ मैं जैसे आपने किया होगा है? आपने किया आपने तो एक बार के प्रयोग के बाद आपकी क्या स्थिति बनी हाँ, एक, ही बार करते हैं एक घंटा हाँ, फिर नहीं करेंगे तो हाँ। जैसा हमने देखा उस पत्रिका में राजेश श्याम जी लाए थे उसमें वह देखा तो उसमें वह था भी जो यहाँ जो अंगूठे हाँ। वो तो समर्पण विधि है नहीं हाँ वो ज्ञान विधि नहीं है अच्छा, अच्छा। वो समर्पण विधि है ज्ञान विधि स्पेशल दिवस में हाँ। दादाजी अपना ज्ञान का जो ये सेपरेशन करने का है वो हाँ। तो स्पेशल दिन में ऐसा करते हैं स्पेशल अच्छा। समय पे हाँ, अच्छा। एक साथ में आपने जो बताया ना वो ज्ञान के पहले समर्पण विधि करते हैं उस वक्त उपाय अंगूठे को ये स्पष्ट करना पड़ता है अच्छा। और अपना सब भी मन वचन काया सब कर्म सब उनके ज्ञानी के चरण में अर्पण करते हैं हाँ। और अपने पास सिर्फ अपना केवल शुद्ध आत्मा रहता है हाँ। और फिर दादाजी ज्ञान बताते हैं हाँ। यानी बोलते हैं और हमें सिर्फ रिपीट करना रहता है वो जो जो भी कुछ बोलते हैं केवल बोलते जाते हैं हाँ सिर्फ स्वयं निकलती है एक एक वाणी एक एक ये देह के पुद्गल का एक एक परमाणु क्या किस तरह अलग है हमसे हाँ। वो सब विवरण करके बताते हैं हाँ। और वो वो शब्द वो ज्ञान नहीं है हाँ। लेकिन हमारे में जो प्रकट होता है वो ज्ञान है और वो जो प्रकट होता है उसकी महत्वता ज्यादा है तो मतलब पहले समर्पण विधि फिर ज्ञान समर्पण दोनों क्रम चलते दोनों साथ में अलग नहीं होता न पहले समर्पण और फिर ज्ञान समर्पण यानी क्या है कि हमारे सब कर्मों का समर्पण है हाँ। और आत्मा तो अपने पास रहता ही है उसका तो और वो कहाँ समर- जाता है? वो लेने वो समर्पण यानी वो कुछ ले भी नहीं लेते હે हैं તત્વને હે જ હે કરીએ છીએ હે તત્વને હે કરીએ છીએ ઉપાધિ उपाधि उपाधि हम्म, जो ઉપાધિ निवास- એના તત્વ ઉપાધિ થઈ જાય છે હે હે થઈ જાય છે પુણ્ય પાપ હે થઈ જાય છે અને જે અનંત અવતાર ભરેલા પુણ્ય પાપ નો દરિયો છે જ્ઞાનાકૃતિ ભસ્મ થઈ જાય છે નહીં મિલ જાતા હૈ ઉપાધિ કુછ હૈ નહીં હમારે લીએ ઉપાધિ તો ઠીક હૈ એમ કે જે હે મટી જાય પછી ઉપાદેય કશું રહેતું નથી ઉપાદેય તો આપણી અંદર જ છે ઉપાદાન પોતે જ છે ફક્ત નિમિત્ત છેલ્લામાં છેલ્લું નિમિત્ત ઉપાદાન मैं नहीं देंगे अभी किया था वे। શું કે બેન नहीं इनको बता रहे हैं कि वे जो प्रयोग किया था अभी कष्ट सहन का नहीं देखा ये बात ही आगे હા એ વાત શું કે તો પેલો માર્યું ને ટીકડી બેન આ તમે લોકો હતા તો કે ના અમે નતા हाँ। પેલો માર્યું બૂટ માર્યો ને હા. એ વખતે આ લોકો તમે જોયું એમ પૂછે છે તો કે ના અમે નતા હતા ને તીકડે? हाँ ના, આ- આ લોકો- પછી આવ્યા. આ લોકો પછી આવ્યા. આપણે પછી આવ્યા હતા સમજવાનું છે આ બધું એ લોકો તૈયાર થાય છે ને બહાર પરદેશ જવાના માટે તૈયારી થાય એમને એટલું ટ્રેનિંગ મળે છે એક अपने कहते हैं कि संसार से अपूठा ने मोक्ष से सामा हाँ बताओ એ કે છે આ આ જુદી જ વાત છે ને સંસાર થી અપૂઠા અને મોક્ષ ની આગે वो तीर्थंकर की बात है मेरी बात कुछ नहीं हाँ, है। हाँ। मैं इतने निमित्त हूँ खाली हमको लोग दादा भगवान बोलता है मैं ना बोलता हूँ मैं दादा भगवान हूँ मैं ज्ञानी पुरुष हूँ आप दुनिया में कोई भी शास्त्र की कोई भी बात आप पूछो तो इसका जवाब बराबर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा वो किसी वेदांत हो कि जैनिज्म हो चार रणयोग हो ये चाहे कोई भी मुस्लिम हो तो अमेरिका में सब लोग भी मिलता था क्राइस्ट का हम्म, सब सब तो आत्मा का आनंद है ज्ञान ज्ञान है फिर ये नहीं होता वेदांत का दर्शनकार अमेरिका का और हिंदुस्तान का और ये वे ये लोग है नहीं चिंता क्यों नहीं होती ये भविष्य को इन्हें देखने की कोई जरूरत ही नहीं वो तो वर्तमान में ही रहता है भविष्य में कभी नहीं गया भूतकाल में भी गया तो नहीं भविष्य में गया नहीं वर्तमान अभी इधर ही है इधर ही घर को नहीं और घर को जाएगा इधर ये बिल्कुल ठीक बात है तो वर्तमान वर्तमान में रहता है बिल्कुल वर्तमान में रहना ही परीक्षा है वास्तव में अतीत और भविष्य से कटकर केवल वर्तमान में जीना हम्म। इसमें समझ कोई आई आपको आनंद हुआ नहीं लग रहा नहीं ये प्रयोग है कि वे भीतर में आत्मानुभूति में रहे हम बक्षक नहीं है रक्षक है हाँ। ऐसा बक्षक की बात किया करता है <laughs> भीतर में रक्षक बाहर में भक्षक लगता हाँ, ऐसा ही है व्यवहार में तो ऐसा लगता है कि आप चौक कर रहे हैं जैसे अपने कहते हैं कि जो गुरु होता है गुरु होता है वह कुंभार की तरह होता है तो कुम्हार घड़ा बनाता है बाहर से जोड़ देता है भीतर में सुरक्षा करता है ठीक है, ठीक है। કે જે એવું કહેવાય છે કે ગુરુ જે છે એ કુંભાર જેવા હોય એટલે બહારથી ટીપે પણ અંદરથી એને अंदर રક્ષણ आके આપે हम- हाथ रखता है अंदर हाँ भोगो ना पड़े भोगो ना पड़े भोगो नहीं। तभी तो कुम्हार कुम्हार आकार है, कुम्हार है। तभी तो वो आकार में आता है कुम्हार तभी कलाकार घड़ा कहेवाय। बनता है कुम्हार कलाकार कहवाय अंदर राखी પછી तभी घड़ा बनता है तभी घड़ा बनता है ત્યારે જ ઘડો બને કે છે. ત્યારે જ ઘડો બને આકાર થાય ત્યારે જ ઘડો બને એકલા શબ્દ એટલે કહે કે કઈ ગયો તો ભરત અહીંયા આવી આ મજા આવે ભરતની ये भरत भाई है यहाँ ब्रह्मचारी है हाँ। तो दादा के साथ रहते हैं दादा की सेवा करते हैं और सब चीज का अनुभव किया हुआ है अच्छा वो इंजीनियर था हाँ। पंद्रह सौ पगार मिलता था हाँ। उसको हमको एक प्रोज मिला तो फिर इनका भाभी को बोल दिया हम हमारी सर्विस तेरी यही नहीं उनका राजा के पास रही है हम्म। मैंने बोला कि इधर क्या कुछ काम है हमको कुछ काम नहीं हम्म। तो बोले आप दाल बिठा दो इधर भी बिठा दो आपकी नदी में बिठा दो हमको हाँ। अभी सर्विस करो कुछ करो और लग्न करो बाहर तक कोई लग्न को तो मांगता है नहीं हम्म। तो ब्रह्मचारी कैसे रहेगा आप ब्रह्मचर्य रहना पहली बात नहीं तो आप कुछ कुपड़ा करो तो हमको ब्रह्मचर्य दे ब्रह्मचर्य के लिए तो हमने किया तो। हम्म। फिर इनको एक बुद्धि की इतना भी बुद्धि नहीं है और इनको ये मानता था कि सब अब सब मूर्ख आदमी है हम्म। ऐसा मानता था क्या मानता था सबको मूर्ख अपने को सब आदमी मूर्ख है इनका फादर मतलब सबकी बातें मूर्ख में आप हम्म, तो बुद्धि के खतरों को जानता हूँ कैसे कहते मैं बुद्धि के खतरों को जानता हूँ हाँ। दोनों दोनों दोनों जीवन मैंने जिए बुद्धि का साहित्य का जीवन भी बहुत जिया है अब ये दूसरा जीवन भी जी रहा हूँ दोनों को जानता हूँ ये दोनों जीवन मैंने जिए है बुद्धि के साहित्य का जीवन भी मैंने जाना है और ये भी तो भी अभी को याद नहीं है आपको बराबर अनुभव पूरा हुआ है मैं तो इतनी बात हमारे साथ वो सब आचार्य लोग नहीं कर सकता है तो अनुभव होना चाहिए अपने को खुद का अनुभव होने से बात कर सकता है मैं ये मानता हूँ कि शायद मैंने पढ़ा बहुत कम लोग जीवन में पढ़ते हूँ हाँ। जितने विषय पढ़े हैं यह भी मानता हूँ और प्रज्ञा का मूल्य उससे कितना ज्यादा है उसका भी मुझे अनुभव फिर एक दफे हमको ऐसा बोला हाँ कि दादा आप पक्का क्यों करता है हाँ मैंने समझ गया कि यह असली का मदद कैसा है हाँ, मेरे को कर्तव्य बोले इतना हर हक नहीं पर उनका क्या हो जाएगा हाँ। मेरे को तुम गाली दो मेरे को हक नहीं मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा इसलिए हमको तकलीफ है हाँ। हमारा हमको हमारे लिए तकलीफ नहीं है तुम्हारे फर्क नहीं पड़ेगा तो मैंने बोल दिया कि तुम बोलते हैं कि दादा आप पक्षपात करते हो हाँ। मैंने बोल दिया कि तुम्हारे जो इधर रहने का हो तो तुम्हारी तुम्हारी सब लॉ बुक है फेंक दो एक लॉ का नहीं है से तीन महीने के बाद लोग फेंक दिया हम्म। फिर बुद्धि की बात बोल दिया कि एक सेंट भी बुद्धि तुम्हारी बात औसारिक नहीं है धार्मिक तो नहीं है आध्यात्मिक तो नहीं है पर संसारिक भी नहीं है हाँ। तो इसको फेंक दो तो फिर जब भी मेरे साथ बड़ा किया बड़ा किया हाँ। ऐसा आदमी सच्चा होता है सच्चा हाँ। और बड़ा बड़ा होता है समझे हम समझ गए बिल्कुल सच्चा आदमी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा हम्म। जिसको पैसे की ममता नहीं कोई ममता हाँ। औरत की ममता नहीं पैसे की ममता नहीं ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा मुश्किल है बाबा हम मैंने बता दिया तुम कुछ भी नहीं है हाँ। जीरो फिर इनकी धीरे जीरो हो गई जब इसकी आबादी बदला समाप्त हो गया आबादी शुरू हो गई इसके बाद जीरो हो गई એટલે ये सब क्या बोलता है हम्म, कि भाई नहीं आए जय जय ये और इनका फादर हाँ दोनों भागवत बॉक्सिंग करते लड़ते हैं अच्छा दररोज हाँ मैंने बोल दिया कि क्या चीज है तो वही क्या बताता कि मेरा फादर का दोष है फादर बड़ा आदमी है सात पाखे बच्चा वो बोलता है कि लड़का था सब फिर वो कितना कितना ये एक हो गई है हम्म। पड़ गई हम्म। तो फिर हमको बोल दिया क्या आप करके एक निकाल दो तो हमने बोल दिया तुम आस्ते आस्ते निकालो हम तो इसी करेगा फिर दोनों बोलने लगा था तो हमने एक घंटे में ग्रंथि तक तोड़ दिया हम्म। फिर ये दोनों को कुछ नहीं बताया ज्ञानी पुरुष के पास इनकी इनकी बीच में इतना इतना बल रहता है कि सब कुछ हो जाता है वचन बल होता है वचन बल हम्म, हम्म। मनोबल वचन बल काय बल तीनों होते हमारे काय बल तो नहीं है पर मनोबल वचन बल ये ब्रह्मांड की ताकत के बरबर है नहीं काय बल से मतलब चर्बी वाला नहीं है काय <laughs> बल ये चर्बी वालों का काय बल नहीं होता काय बल होता है कि जिसके हर सेल में प्राण शक्ति सक्रिय हो जाती है तो अभी कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो सबको ये सबका इसको सबको आनंद में है अच्छा राधेश्याम जी आगे से पहुँचे <laughs> विष्णु भाई आगे विष्णु भी आगे हाँ अच्छा आगे इधर इधर हाँ इधर विष्णु पाठक हाँ विष्णु हाँ, पाठक हाँ हाँ, हाँ हम छोटा छोटी हाँ। पूरा आपका परिवार आ गया आज बस थोड़ा बहुत आज बहुत अरे कम आया ये है। से मतलब यह नहीं था संख्या में मत लो ठीक है। गुणात्मक लो हाँ क्वालिटी क्वालिटी કે બધો આપણો પરિવાર આવી ગયો છે એમ કે છે. परिवार घेरा कोई नहीं मैं इनका हूँ घेरा कोई आप इनके एक ही बात है तभी तो परिवार बन कोई चीज मेरी नहीं है अभी कोई ले ले हाँ। तो हरकत नहीं नहीं ले ले तो भी हरकत नहीं ठीक है? सब कपड़ा बपड़ा ले ले तो हरकत नहीं नहीं ले ले तो केस कर ऐसा है नहीं कि ले लो हाँ। ऐसी बात मेरी कुछ चीज नहीं मैं हम उनका निरंतर ज्ञानी को भी लेबोरेटरी रखनी पड़ती है ये आपके लिए लेबोरेटरी हाँ। हाँ, को निरंतर लेबोरेटरी में ये कराना पड़ता है ये आश्चर्य लगता है नहीं नहीं तो? निरंतर ज्ञानी है उसको लेबोरेटरी होती આપડે જ્ઞાન વિધિ ની વાત કરી ને અહિયાં નહીં પણ લેબોરેટરીમાં અપાય તો કે છે કે જ્ઞાની ને જેને નિરંતર લેબોરેટરી હોય એને ખાસ લેબોરેટરી માં કરવું પડે પ્રયોગ એ જાણીને આશ્ચર્ય થયું તો પ્રયોગ તમે કહ્યું ને લેબોરેટરી માં થશે અહિયાં નહીં થાય તો કે એ જાણીને આશ્ચર્ય થાય છે લેબોરેટરી तुझे का अर्थ है बार आप खाना नहीं खो जाए खाएगा आज हम्म। नहीं खाएगा ना हाँ? और पहला खाता है ये तो कुछ नियम होता है नियम हाँ। देश और काल का भी योग होता है ठीक है देश और काल देश और काल का भी योग होता है हाँ, नियम तो होना चाहिए कुछ नियम बिना नहीं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों निमित्त होने चाहिए अभी कोई आदमी इधर सो जाएगा कितना खराब दिखाता है और रात में नहीं सो जाएगा तो भी खराब दिखाता है <laughs> ऐसे कुछ नियम होना चाहिए आपको ठीक नहीं लगा आपका आशीर्वाद नहीं है हमको नहीं ये सबको ये ठीक है ठीक है जैसे दर्शनावरणीय कर्म निरंतर उदय में रहता है पर नींद का निमित्त रात को बनता है ज्यादा બરાબર છે જેમ દર્શનાવરણ નું કર્મ નિરંતર હોય જ પણ રાત્રે એનું વિશેષ પ- હોય हाँ, प्रभाव निमित्त પ્રભાવ रात એનો को बनता વધારે है इसीलिए हर बात को द्रव्य क्षेत्र काल भाव इस चतुष्टी के साथ भी हो सकती है कोई भी कार्य होने के पहले उसकी टाइमिंग हाँ, तो मेरी बात आपको आपके मेरा कोई प्रश्न नहीं है आपको संतोष नहीं हुआ है मेरी बात से नहीं हुआ है नहीं हुआ नहीं तो નથી થયો हैं? સંતોષ નથી થયો टाइमिंग चाहिए स्पेस भी चाहिए क्षेत्र काल स्पेस टाइमिंग स्पेस बीजा कितना साइंटिफिक सेटअप से एविडेंस जगह થાય तो उसकी कार्य होता है नहीं तो कार्य नहीं होता है अपने अपनी खुद की मर्जी से कार्य नहीं होता है वो टाइमिंग सब सर्कम से एविडेंस जगह हो जाता है तब कार्य का होता है सिद्ध शिला सिद्ध शिला में जाकर बैठता है तत्काल केवल ज्ञान होने की सुविधा हो जाती है वह स्थान नहीं मिलता है तो नहीं होती लंबा समय लग जाता है એટલે સિદ્ધ શિલામાં જવાના સ્થાનનું એ એ ના થાય ને ટાઈમિંગ ના મળે તો કે છે કે કેવળ જ્ઞાન થયા પછી લંબાય છે કામ नहीं नहीं सिद्ध शिला एक स्थान हमारे यहाँ मनुष्य लोग हैं। મનુષ્ય લોકો हाँ, उसमें जाने वाले को केवल ज्ञान की बहुत जल्दी सुविधा हो जाती है वो अन्नाड़ी देश में चले गए ના એ કે છે સિદ્ધ શિલા જે આપણા પૃથ્વી પર સ્થાન છે ત્યાં જાય તો એને કેવળ જ્ઞાન થવાની સુવિધા વધારે થઈ જાય છે हाँ भाई क्षेत्र का प्रभाव ક્ષેત્રનો પ્રભાવ देश- क्षेत्र देश- का प्रभाव काल का प्रभाव धृति का प्रभाव भगवान को भी आर्य देश में से वि- वि- अनादि देश में विहार करके अनार्य देश में जाना पड़ता था हाँ। पड़ा था अनार्य देश में जाना पड़ता ऐसे कुछ न कुछ होना चाहिए आपको संतोष नहीं हुआ हमारे पास नहीं ऐसे नहीं संतोष कह तो आपके लिए संतोष मैं ऐसे, कह रहा था कि जो जैसे पितरा भगवान है हाँ, महावीर थे तो उनको जब जो प्रश्न का उत्तर देना था जो विधि देने थी तो उसके लिए कोई अलग ऐसे देश क्षेत्र काल तो, तो जैसे होगा होगा जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनका विशेष सामर्थ्य होता है जब अनंत शक्ति को अपने मानते हैं तो उस क्षेत्र को भी खींच के ला सकते हैं उसमें समय को भी उसमें पैदा कर सकते हैं वो ऐसा नहीं એમ કે છે કે ભગવાન મહાવીર વિતરાગ હતા એ એમને છે તો આવું જો હોય કે જે ટાઈમે જે ક્ષેત્રે થાય ત્યારે કરે તો પછી એનું સામર્થ્ય શું? આવા પુરુષોનું કઈક સામર્થ્ય હોય કે જે ક્ષેત્રને ખેંચી લાવે કાળને ખેંચી લાવે नहीं वो महावीर में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं था नॉट सामर्थ्य हम्म, हम्म, नहीं होता मतलब हमको भी सामर्थ्य नहीं देखो नहीं होता ही नहीं है देखो साहब हमको भी सामर्थ्य नहीं हाँ, हाँ। हम तो अपने पोता खुद का खुद का पोता पढ़ा नहीं है हम पोटले ले जाता है तो हमको हमको ले जाता है हाँ, अच्छा। नमो वितरागाय हाँ <laughs> साहब के संतोष करने के लिए हमारे क्या बोलने की जरूरत है नहीं संतोष नहीं चाहिए। नहीं संतोष हो गया मैंने कह दिया ना आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ हाँ हाँ इसलिए संतोष है એટલે તમારી વાતનું એમને સમર્થન કરું છું એટલે સંતોષ છે हाँ नहीं ये बिल्कुल ठीक बात है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को खींचना आपका किसी एक के बस की महावीर बात का ही सभी है आपका हाँ, महावीर का है। महावीर का बिल्कुल ठीक है। वो अहंकारी का काम है हाँ। ज्ञान का। पर केवल ज्ञान का आराधक ही है अगर ऐ- केवल ज्ञान अगर का- ऐसा होता और कषाय का अभाव करने के लिए सब जगह हो गया है नहीं अगर ऐसा होता तो महावीर सबसे पहले गौतम को केवली बना के ही जाते पर बने बाद में એવું જો હોત તો મહાવીર ગૌતમ ને સૌથી પહેલા કેવડી બનાવી જાત પણ આ તો પછી થયા हाँ पची है क्योंकि प्रशस्त राग था इनके। हाँ प्रशस्त राग बहुत और ये सबको भी हमारी हमारी हाँ, हमारे साथ सब प्रशस्त राग है सबको तो मैंने बोल दिया भरे रहने दो तो मत करो क्या काम करता है संस्कार संसार का राग टूट जाता है और प्रशस्त बैठ जाता है इन्हें सबका प्रशस्त राग मेरी है बस गौतम का महावीर के प्रति प्रशस्त राग था ठीक है गौतम का महावीर के प्रति प्रशस्त राग राग हाँ और बहुत छोड़ दिया उन्होंने पर जब तक महावीर रहे नहीं छोड़ सके महावीर गायर समाप्त हो गया और ये लोग का बिजनेस क्या है अभी हम्म, हम्म। उनको समाधि हो गई चिंता मर गई और नहीं बड़ा अच्छा है नहीं दो जैसे में मोक्ष मिलने वाला ये भी चौकस हो गया मतलब हाँ भाई का धंधा क्या है इसका बिजनेस क्या हाँ। तो इनका बिजनेस क्या है कि सबको जो सुख हमको मिला है ये सुख सबको मिलो ऐसा ही बिजनेस है दूसरा भी कोई बिजनेस है और हिंदुस्तान में और जो जिधर पुण्य धर्म समझता है हाँ, हाँ। वहाँ विकराग का धर्म खुला हो जाओ तो समझता है अच्छा उद्देश्य है अच्छा क्रम है यथार्थ वितराग का धर्म अभी वितराग धर्म यथार्थ नहीं है नहीं हमें तो इसीलिए प्रसन्नता हुई इधर गच्छ है यहाँ विकराग नहीं है वो बोलता है गच्छ वाला साधु हमारी बात मैंने एक बोलता है कि तुम्हारा सब तुमने कैसा से दीक्षा दिया तो आपको कैसा दीक्षा हो गया हमने हमारे गुरु पारद ने दीक्षा दिया है हाँ। ये कोई घट की दीक्षा है सच्ची दीक्षा नहीं है वितरक की दीक्षा है सच्ची दीक्षा है घट की दीक्षा एकांतिक दीक्षा है अनेकांति है हम्म। हमने अनेकांत दीक्षा दिया है और जब तक भेद विज्ञान नहीं होता तो सम्यक दर्शन ही नहीं होता दीक्षा तो बात की बात है चरित्र बात की बात और वो नमस्कार मंत्र है नौकार मंत्र है हाँ। तो एक एक आचार्य हमारे बोलता था ये नौकार मंत्र हम कितने आदमी को देता है कोई फलित क्यों नहीं होता है हम्म। मैंने बोल दिया तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता है तुम्हारे की समझ नहीं होगी तो फलित क्यों नहीं डॉक्टर डॉक्टर अच्छी तरह दवा देने वाला है और दर्दी अच्छा है फिर आज दर्दी को आराम होना चाहिए हम्म। तो बोल दिया मैंने मैंने दवा भी अच्छी दिया है दर्दी भी अच्छा है क्यों नहीं होता है मैंने बोल दिया कि नौकार नमस्कार मंत्र कैसा बोलता है आप बता दो हमको हम्म। तो ये बोलने लगा हाँ। कि नमो हरिहंता नमो सिद्धांत नमाय तो मैंने बोल दिया कि नमो सिद्धांत बरोबर है નમો આયરિયાણ બરોબર હે નમો વજ્જાયણ બરોબર નમો લોહી સર્વ था बरोबर नमो हरिहंता में किसको बोलता है कई बार तो बोलने लगा स्वामी से तो देखो आप विचार करके बोलो स्वामी शिवसेन तो सिद्ध हो गया हम्म, कैसा बोल रहे हैं मेरी बहुत बड़ी भूल होती पहले से भूल आखा मार्ग पर ही भूल चल रही है नहीं तो होता है तो फिर हमने बोलने लगा की क्या हमारे करने का तो मैंने बताया कि श्रीमद स्वामी का अरिहंत मान लो इसके लिए अभी अभी है अभी है समिंदर स्वामी किधर भी है मगर है हम्म। आप समझ गए मतलब? प्रत्यक्ष होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो तो वो सिद्ध हो गया जो स्वामी सिद्ध और सिद्ध को अपने ये बोलना अरिहंत बोलना ये आचार्य को आज भी उपाध्याय बोलना आज चाहिए भी एक नहीं વીસ તીર્થંકર. हाँ बीस तीर्थंकर तो बिहर मान और और भी ज्यादा हो सकते हैं બરાબર. એ કે છે અત્યારે વીસ તીર્થંકર એક નહીં પણ વીસ તીર્થંકર વિહારમાં છે नहीं नहीं वो भी सिद्ध की बात दी है और हिमंत स्वामी की बात दी है हाँ हाँ वे भी है अपने ये भूमि विकार के लिए ये भारत भूमि के लिए सिमंदर स्वामी की बात और है सबके लिए બાર है જીવન दशा विकास वो हम इनको सबको भलामण करता है कि जीवन दस स्वामी साल उसका कोई बोलना नहीं आपको ठीक लगता है और हम तो हमारा कोई हमारा आश्रम कोई नहीं है हमारे लिए इतनी जगह भी नहीं है कोई क्योंकि हमारा आश्रम रखने वाला आदमी आपकी नहीं है हमारी भी नहीं है કે આપકી નહીં है, हमारी भी नहीं है તમારો નથી ને અમારો નથી नहीं मेरा तो कुछ है ही नहीं नहीं हमारा भी कुछ भी सब लोग नहीं नहीं सब लोग बोलता था हाँ। कि आपके लिए आप कुछ छोटा बड़ा आश्रम क्योंकि मेरे को आश्रम आश्रम की जरूर नहीं वो आश्रम में सब लोग आएगा फिर विश्राम करेगा वहाँ क्या करेगा सब अभी आज दूसम काल है ना दूसम काल में आश्रम में विश्राम करता है सब लोग आप समझ गए ना? सब लोग के नहीं है पर मगर कितने लोग तो ऐसे ही करता है आपकी समझ में था कोई આમ ही नहीं हम तो एक घर के नीचे बैठो और सत्संग करो फिर हमको एक संकेत हुआ हाँ। कि सिमंदर स्वामी का मंदिर बनाओ हम्म। और इनके साथ कृष्ण भगवान का मंदिर वासुदेव हम्म। जो सरा का पुरुष है हम्म। इसका एक मंदिर बनाओ और इनके साथ नमः शिवाय का मंदिर बनाओ हम्म, इतना ऐसा संकेत संकेत हमको मिला है अच्छा तो इसलिए तैयारी हो गई ये तीनों रखे आपने ठीक है मंत्र में भी तीनों रखे એટલે आपने। મંત્રમાં પણ ત્રણેય છે हाँ श्रीमंत्र के क्योंकि